सागर में जैसे कि जल है अब पुरुष क्या है मतलब जल पुरलिंग है तो कल लोग सागर का जल जो है वो तो पुरुष लोगों के समान है <clears throat> बड़े आनंद तो वो दिए उछल रहा है और तरंगे है वो स्त्रियों के समान है तो जल भी है तरंगे भी है <clears throat> मिलकर के समुद्र इस प्रकार से ये तो ये इनका ये पूरा रूप इस प्रकार से बन गया तो भगवान सब चले आ रहे हैं और अयोध्या में इस प्रकार के आनंद का वर्णन तो हो गया अयोध्या की स्थिति अब भगवान वहां से बाईमान बैठ करके चले थे तो वे कितना चले कहां तक पहुंचे उनका क्या हुआ तब उधर की भी समाचार सुना बातें दोनों तो मिलना है तो कुछ इधर की बात भी सुनो कुछ उधर की बात भी सुनो अब ये जिज्ञासा होगी अयोध्यावासी तो सब निकल निकल करके नगर के बाहर पहुंच गए और भगवान का आकाश में वायुयान आया तो फिर क्या हुआ हाँ, तो उसकी बात सुनो यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपी सयंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जान को को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश भय सरजू पावनी जाम जनते नहीं प्रयासा मम समीप नर पावई बासा अति प्रिय मोही के बासी मम धाम दापुरी सुख राशि हर से सब कपि सुन प्रभु बानी धन्यवद जो राम बखानी आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूम विमान उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर कहीं जाओ तीर्थ राम चले सो हर्ष विरयतिताहु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की सब संतन की अनुकूल कमल दिवाकर अब ये तो हो गया अयोध्या में जहाँ की बात की अयोध्या की बात हो गई अब उधर जहाँ भगवान राम पुष्पक विमान पर वहाँ चलो वहाँ देखो क्या है मैंने पुष्पक विमान पर ही पहुंच जाओ जहाँ भगवान राम विराजमान है तो वहाँ देखो वहाँ वहाँ क्या चर्चा अब कहते हैं यहाँ जो तब ये समझो कि भगवान राम तो सूर्य है अयोध्या में थे तब तो समझो कि चंद्रमा है अब दूसरा रूपक आ गया भगवान राम सूर्य के समान हुए वैसे है दिवाकर के समान दिवा प्रकाश कर देने वाले और भानुकुल कमल मन सूर्य वंश की पूरे वंश में भाताएं ये सब लोग कितने बना के हैं और, और वे सब के सब जो है वो तो कमल के समान है आकाश में भगवान जैसे सूर्योदय हो रहा हो इस तरह से आ रहे हैं तो भगवान के आकाश में पुष्पक विमान के चले आने से ये कि अब आकाश में जैसे सूर्य का उदय हो तो कमल खिलने लगते हैं प्रातः प्रात ऐसी ही बात निश्चित है लेकिन वो लोक कल्याण कार्य करे तो क्या करे कैसे करे वो व्यक्ति भी लोक कल्याण कार्य नहीं कर सकता परमाणु से लोक कल्याण कार्य तभी तक हो सकता है जब तक व्यक्ति का शरीर भी रहे तीनों शरीर भी रहे लेकिन वो सब शुद्ध पवित्र एकदम से निर्मल हो जाए निर्विकार हो जाए और परमात्मा उसमें आकर के पास करे परमात्मा भाव से संबंध भी हो जाए उसका तब ऐसा व्यक्ति लोक कल्याणकारी करने के लिए उपयुक्त तो कहते हैं तुलसीदास जी की मान्यता तो यही है कि संसार में वो व्यक्ति महान है जो भगवान की भक्त है और भक्त मैंने जो मुक्ति का निरादर करते हैं भक्ति को लेकर के लोक कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं ये तो मुक्त पुरुषों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि मुक्त पुरुष अब वैसे मुक्ति की भाषा में बहुत निंदा करने लगो अरे मुक्त हो तो क्या मुक्त हो मुक्त ही तो हो तुम अकेले लोगों को तुमने क्या किया संसार के लिए तुम किस काम के हो ऐसे बोलने लगे <clears throat> तो कहेंगे कि बस वो जो है ये भक्त लोग जो है वो प्रयोग उपयोगी है वे लोग कल्याण के लिए भी अपने तो मुक्त है ही है उससे मुक्ति से भी ज्यादा उनको भक्ति प्राप्त है परमानंद की प्राप्ति है ही है उनको भी संसार का कोई बंधन नहीं कोई क्लेश दुख आदि है नहीं और फिर भी शरीर धारण किए हुए हैं तो उनके द्वारा लोक कल्याण कार्य भी हो रहा है तो इनसे महान फिर कोई नहीं है और भगवान के भी ऐसे ही व्यक्तित्व है और गीता में जो तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में भगवान ने बोला है उससे भी यही पता चलता है वहां तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो कि यदि तुम जो है वो मुक्त भी हो गए हो तुम आत्मज्ञान भी हो गए हो किसी को हो गया हो तो उसे भी लोक संग्रह के लिए कार्य करते रहना चाहिए लोक संग्रह में बाकी संपर्शन कर्म कर तुम रसी लोक संग्रह देखते हुए भी तुमको कर्म करते रहना चाहिए और फिर उसकी बड़ी महिमा बताते हैं भगवान जो लोक संग्रह के कार्य में लगा रहता है उसकी बड़ी महिमा है भगवान अपना भी बताते हैं कि देखो लोक संग्रह का कार्य करने के लिए लोक सेवा के लिए तो मैं भी अवतार लेता रहता हूँ तो भगवान जब अवतार लेते हैं तब लोक सेवा का कार्य होता है भगवान को अयोध्या में आना पड़ता है जब अयोध्या में आते हैं तब लोक सेवा का कार्य भी वो कर पाते हैं जैसे अभी सब चरित्र किए रावणाथ को मोह रूपी रावण को अभिमान रूपी इन सबको इनको सबको विकारों को इनको सबको मारा समाप्त किया नष्ट किया निशाचरों को तो ये सब अवतार लेकर के भगवान तब कार्य करते हैं जैसे तो भगवान अवतार लेकर के जो कार्य करते हैं वही सिद्ध पुरुष लोग अपनी भक्त की अवस्था प्राप्त करके ज्ञान की पर ज्ञान की अवस्था प्राप्त करके वही लोग कल्याण का कार्य बड़े प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक उसी प्रकार से वो भी करते हैं <clears throat> तो अब इन सब बातों को सब तालमेल बैठा रहो एक प्रकार से साथ साथ विचार विचार करने के मन यही है शास्त्र का अध्ययन करो और इसके ऊपर विचार करो विचार करने के मन ये इनके सबके तालमेल बैठा दो शास्त्र में कहीं कोई बात कही गई कहीं कोई बात कही गई है इनका सबका स्मरण करके अपने चित्र में देखो तो इसमें देखेंगे <clears throat> कि व्यक्ति को अपना तो विकास करना ही चाहिए साथ साथ लोक सेवा का भी कार्य करना चाहिए लोक कल्याण का कार्य करेगा तो उससे उसके आध्यात्मिक विकास में सफलता मिलेगी और आध्यात्मिक विकास की पूर्णता होगी तो लोक सेवा का कार्य अपने आप ही उस व्यक्ति से हो गई होगा यही जीवन का उज्जवल रूप है उसी को संकेत करते हुए भगवान कहते हैं देखो अयोध्या मुझे खूब प्रिय है अयोध्या में भगवान अब कहते हैं कुछ कारण भगवान स्वयं बताते अयोध्या क्यों प्रिय पुरी सम प्रिय नहीं सो कहते मैंने अयोध्या ज्यादा प्रिय है वैकुंठ उतना प्रिय नहीं है कहते ये प्रसंग जाने को कोई कोई कोई इस बात को जानता है तो इसके माने सब लोग नहीं जानते हैं तो भगवान उसको जन्माते हैं जगह जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी अयोध्या की बात ही कि मेरी जन्मभूमि तो जन्मभूमि सबको प्रिय होती है इसलिए जन्मभूमि भगवान को यह अयोध्या बड़ी प्रिय वैकुंठ कोई भगवान की जन्मभूमि थोड़े जन्मभूमि निर्गुण निराकार ब्रह्म तो कोई उत्पन्न थोड़ा होता है उसका जन्म भी नहीं होता उसका अवतार भी नहीं अब वो सगुण रूप जब धारण करे तब उसका अवतार कहो या उसका जन्म कहो तो सगुणता के लिए जब भगवान सगुण रूप धारण करेगा तो उसके लिए जगत सापेक्ष कार्य क्षेत्र चाहिए जहां पर की जगत हो पात्र जो जगत हो वही तो अवतार लेगा इसलिए फिर अयोध्या शरीर सापेक्ष है माने हृदय में है हृदय भी शरीर का एक भाग है उसमें हृदय में जो वो हो भगवान आकर के अवतार लेते हैं तो अयोध्या में भगवान अवतार लेते हैं इसलिए जो कहते हैं कि देखो मेरी जन्मभूमि है तो जन्मभूमि के कारण से मुझे ये बहुत प्रिय है सुंदर लगती है जन्मभूमि सबको सुंदर लगती है चाहे उजाला ठंडी हो जहां जाना उसमें जहां चाहे पानी भी पीने को मिलता हो तीन चार किलोमीटर से पानी ला करके सिर के ऊपर लाद करके लाना पड़ता हो लेकिन जब वो अपनी जन्मभूमि में अपने गांव घर में पहुंच जाता तो लगता आ पैर कटा करके बैठेगा कि अपने घर आ जाए लेकिन यहाँ क्या आ गए तुम शहर में थे तो वहां तो टोपी खोलो पानी तुरंत मिलता था अब जाओ लाओ उतनी दूर ले आएंगे पानी खोल खड़ा तब अपने घर की बात ही दूसरी है तुम गुण के स्थान की तो भगवान उसकी अपनी महिमा सुनाते हैं कि जन ब्रह्म पुरी सुहावनी उत्तर दिश पर सरयू पावनी और कहते तो दूसरी बात यह है कि इसमें उत्तर दिशा में सरयू भी बह रही है और सरयू भी बड़ी पवित्र सरयू नदी है ये बीच में अयोध्या में दूसरी बात इसलिए अयोध्या की सुंदरता और प्रियता के कारण सरयू नदी भी है और सरयू नदी अब प्राचीन काल में तो जब तुलसीदास जी की रचना कर रहे हैं वाल्मीकि की रचना कर रहे हैं भगवान की कथा सुना रहे हैं उस समय तो जो ग्राम नगर नदियों के किनारे होते थे और जिन नदियों में चौबीस घंटे चौबीस बारह महीने पानी रहा करता था वे नगर ग्राम अच्छे माने जाते सुंदर ग्राम है क्योंकि सारा पानी उपलब्ध रहता है नदियों का पानी उपलब्ध रहता है नदी से पानी ले आओ या नदी बह रही होगी तो घूम में भी पानी सदा उपलब्ध रहेगा जमीन के भीतर खोदोगे तो कुएं में भी पानी निकल आएगा नदी के कारण से और यहाँ पर नदी नाले कोई नहीं बहुत दूर स्थान पर वहां जब तक वर्षा पानी तब तक वर्षा पानी उसके बाद घूम में खोदो तो वहां भी पानी निकले तो इसलिए जो वो नदी के किनारे ही नगर ग्राम बसाए जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो सरयू नदी ये अयोध्या की ये बात भी है कि इसकी उत्तर दिशा में सरयू नदी भी है लेकिन सरयू नदी है और अयोध्या नगरी है ये सब सुंदर है और भूमि और स्थल है ये भौतिक स्थल है लेकिन संकेत करते हैं ये कि जहाँ मत जनते बिना प्रयासा लेकिन सरयू नदी की महिमा सुनाते हैं इस नदियों में स्नान करने से बिना प्रयास के ही कहते हैं बिना ही प्रयासा मम समीप नर पावे वासा मनुष्य जो है वो मेरे समीप पास, पास करते हैं अभी तुलसीदास जी जगह जगह इस प्रकार से जो मुक्तियां चार प्रकार की अपने भक्त साहित्य में कही गई है सालुक सामीप्य सारूप्य सायुज्य इनका सबका उल्लेख करते रहते हैं तो समीप के माने है सामीप्य मुक्ति भगवान के पास जाकर के पास करते हैं जो सरयू नदी में स्नान करते हैं तो बस उनके सारे पाप धुल जाते हैं और ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि बस भगवान के ही पास वो पहुंच जाते हैं उनका पास वहां पर होता है मज्जन में स्नान करने जहाँ मज्जन थे बिना ही प्रयासा जिसका मज्जन करने से बिना ही प्रयास के बिना परिश्रम किए ही मम समीप नर पावही भाषा सब लोग देख रहे हैं मम समीप नर पावही भाषा सब लोग जो है वो मेरे पास आकर के पास करते हैं अब देखो कैसे पास करते हैं अब क्या आजकल भी बहुत से लोग जाते होंगे सरयू में जाकर टुप्पी लगा ली टुप्पी लगा ली तो पहुंच गए भगवान के पास पास करने लगे ऐसी शंकाएं कर सकते हैं लोग बाग तो उसका तात्पर्य है कि यदि कोई अयोध्या में जाए और सरयू में स्नान करे तो उसके हृदय में फिर भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होने लगेगी भगवान की भक्त उत्पन्न होगी प्रारंभ हो जाएगा सूत्रपात वहीं से हो जाएगा और फिर सरयू क्या है बाद में उसे पता चल जाएगा सरयू जो अयोध्या के पास है वो तो सरयू तो भगवान की गुणगाथा है सरयू क्या बह रही है भगवान की गुणगाथा बह रही है उनके सुंदर पवित्र चरित्रों की कथा अब कहते हैं जो लोग इस प्रकार भगवान के सुंदर चरित्रों की कथा में अवगाहन करेंगे सुखी लगाएंगे है? हाँ, उनका क्या होगा और उनको बिना प्रयास के मैंने कथा सुनते सुनते ही उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा कथा सुनते सुनते ही उनका तमोगुण रजोगुण दूर हो जाएगा कथा सुनते ही सुनते उनके काम क्रोध आदि विकार दूर हो जाएंगे और उनको अपनी तरफ से इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा केवल कथा का प्रभाव ये है कि उन्हें सारा परिवार शुद्धिकरण सब कर देगा करने का परमात्मा के निकट पहुंचने का अधिकारी हो जाएगा वेदांत आदि में योग साधना आदि में तो जीव को प्रयास करना पड़ता है योग के मैंने योग साधना करो अभ्यास करो अभ्यास करो बार बार वैराग और अभ्यास ये सब लाओ बिना अभ्यास के नहीं होगा लेकिन इसमें भक्ति में इसमें क्या है कथा श्रवण क्या है भगवान की कथा सुनते रहो सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते सारी साधना जो अन्य साधनाओं के द्वारा होती है तथा श्रवण से भी हो जाती है इसे कहते हैं श्रवण साधना नाना प्रकार के साधना नाम जब साधना जैसे है जैसे भगवान के चरित्रों की श्रवण साधना श्रवण करते करते करते करते वो सब जो वो हो गया इसीलिए श्रवण साधना के संबंध में बालकांड को तुरंत याद कर लो वो जो बालकांड की जो बातें थी वही इसी प्रकार से उत्तरकांड में इस प्रकार से आने लगी बाल कांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो ये सरयू नदी जो ये है इसमें स्नान करो भगवान की कथा को सुनो सुनो मान सरोवर है इसमें स्नान करो इसमें डुबकी लगाओ तो जितने लोग बाग जो है यहाँ पर इस कथा को सुनने के लिए बहुत से लोग तो जाते ही नहीं क्यों कि ग्रह कार्य नाना झंझाला देख दुर्गम शैल विशाला ये सब वही बालकांड की बात है ताकि चलो शरीर में स्नान करा रहे साथ सामान झंझटे हैं अभी तो हमने चारा पानी नहीं किया अभी तो सवेरे उठे हैं अभी तो ये सब काम पड़ा हुआ है अभी कहाँ से जाएंगे अभी कहाँ से जाएंगे तो ये तो जैसे कि रास्ते में पर्वत खड़ा हो तो जा नहीं सकते वहां पहुंच नहीं सकते और फिर कोई लोग कोई कोई पहुंच भी गए मान लो कोई लोग साथी का है हटा छोड़ो लौट करके लेना करके जो काम है चलो वो चलते हैं हम तो साथ मिल जाएगा हमारा तुम्हारा तो, तो अच्छा भाई नहीं मानते तो चलो तो ये معناتে যে চলি গেি അവസରতന്നെ প্রত্যেকটা জায়গায় সরি মানে সবাই আর दुसरे গটি যারা ওলে কি কিয়া بچাতে যেতে उनको জটকা জাল বুঝতে লাগা অ গয়না মধ্যে নে পায় রাগা ইকারে হ্যাঁ নদীর কিনারে পৌঁছে সে চাল লাগনে লাগা अब जिसको नदी के किनारे सर्दी फुफड़ी लग रही होगी शरीर में तो वो कपड़ा उतार के नदी में कैसे घुसेगा उसमें स्नान करेगा हाँ? तब बस उनको चढ़ता जड़ता आ गई कि माने कथा जहाँ हो रही थी तो कथा सब ऊपर से सबसे ऊपर निकलती चली गई और उनके चित्त में कुछ नहीं गई न कोई सुनी नहीं कथा उसमें कुछ उनके हृदय में उठी गई नहीं तो गये न मज्जल पाव भागा ये तो समझे को तो सुन रहे तो सोच नहीं रहे सब लोग कथा जितने लोग जितने होते हैं सब कथा सुनते हैं में बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं हजारों हजारों लोग आते हैं वहां पर भी कथा होती है और वो काफी झमाझम कथा होती है मैंने उसमें जो है फिर बाजा बाजा काफी सोल इसीलिए किया जाता है कि लोग बीच में बात न करी पावे सो न पावे ये सब प्रबंध करने की कोशिश की जाती है कि सभी लोग उसमें स्नान कर हैं सब बेकार नहीं है वो सबका प्रयोजन सबका है वो लेकिन फिर भी वो कथा अपनी तरफ चलती रहती है बात करने वाले बैठे अपने बातें ही करते रहते हैं घरों की बहुत दिनों मिले भाई हम चतवानी वाले थे तो तुम्हारे पास और क्या हाल चाल है उसके क्या हाल है उसके क्या है और अपनी बातें और कथा अपनी चल रही है वो अपनी बातों ही बातों बन गई हाँ। और कोई कोई जो है उसमें बातें करते करते अपने अपने सो बस ये भी होता रहता कथा चलती भी रहती है तो इसके माने ये कहते हैं कि जब कथा चले तो उसमें स्नान करेंगे स्नान जब कथा का प्रभाव ये कि कथा सुनने के पहले और कथा सुनने के बाद कुछ अंतर दिखाई देना चाहिए जैसे नदी में स्नान करो तो पहले तो रात भर के बिना स्नान स्नान किए हुए एक तो शरीर में वैसा लगता है बिना नहाए कैसा लग रहा है और फिर जरा कपड़े उतार करके नदी में डुबकी लगाओ चार छह डुबकी लगाओ शरीर को मलो धो तो, और शरीर में शीतलता आ जाए उसके बाद में फिर साफ कपड़े पहन करके धुले धुलाए कपड़े पहन करके तट के ऊपर खड़े हो और याद करो कि बिना नहाए कैसा लग रहा था और नहाए कैसा लग रहा है तो कोई तो जैसे बिना नहाए जैसे आए कोई अंतर नहीं लग रहा है तो क्या नहाया तुमने नहाने का कोई अं-, अंतर तो आनी चाहिए आप इत्यादि शांत हो स्फूर्ति आ जाए ये सब कोई न कोई जैसे स्नान करने से होता है इसी प्रकार कथा श्रवण करने से पहले की अपेक्षा व्यक्ति में कुछ ज्यादा स्फूर्ति दिखाई दे ज्यादा तेजस्वीता हो जस्वता आवे ज्यादा उत्साह जीवन में दिखाई दे ज्यादा शांति और आनंद की अनुभूति हो तो तो कथा सुनी और जैसे ही मन वैसे ही वैसे पड़ा रहा मलिन बना रहा रंच मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ एक प्रतिशत भी नहीं हुआ तो फिर समझो कथा क्या सुनी ये कहते हैं कि ये ये ऐसी सरयू नदी है कहते हैं कि जन्म भूमि परि सुहावन उत्तर दिशत सरयू पावन जाम जनते बिनही प्रयासा और मम समीप नर पावन पासा तात्पर्य उसको समझो केवल ये भौतिक कथा मात्र नहीं गई उद्यान में गए सरयू में डुबकी लगाई तो बारिश सब पूरी बात हो गई जितनी यहाँ पे कही है वो सब पूरी हो गई पूरी बात होकर के तब होती है जब भगवत कथा में स्नान करो तो वो सरयू में तो कहते हैं प्रिय मोही यहाँ के वासी कहते अयोध्या में वास करने वाले जो व्यक्ति है वो मुझे खोजती गई अयोध्या में वास करने वाले अधिक प्रिय है कि मैंने जो जो लोग अपने हृदय में वास करते हैं अब सब लोग रहते तो अपने शरीर में लेकिन सब लोगों को पास कहाँ है आज आप कहाँ रहते हो तो अपना घर गांव का पता बता दें कि वहां रहते हैं मकान नंबर बता देंगे शहर बता देंगे वहां रहते हैं लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से रहना अलग अलग है कोई व्यक्ति जो अपने शरीर से बाहर भौतिक जगत में विषयों के क्षेत्र में रहता है रूप रसगंध इत्यादि स्वाद इत्यादि इन्हीं के क्षेत्र में सब में उसमें रहता है वही उसका पास है विषयों में पास है विषयी लोग विषय लोक में बास करते हैं कुछ लोग अपने शरीर में बास करने वाले हैं देहाभिमानी व्यक्ति विषयों में शरीर में बास करते हैं कुछ लोग फिर अपने मन में बास करते हैं कुछ लोग अपनी बुद्धि में बास करते हैं कुछ लोग अपने हृदय में बास करते हैं तो संसार में आप ही ना समझो कि सब लोग बस अब किसी न किसी नगर में किसी न किसी गांव में रहते हैं अरे रहने के लिए आप इसको भी समझो कि कौन कहाँ कहाँ रहता है ये भी बहुत से ठिकाने हैं ये सब रहने के तो जो लोग सप्तुण प्रधान हृदय में बास करते हैं ऐसे लोग भगवान को प्रिय हैं अगर भगवान को प्रिय बनना चाहो तो अपने हृदय में रहने का अभ्यास करो बाहर के जंजाल में मत पढ़ो दूसरे लोगों के बहस मुहासे में मत पड़ो भाई जगत की कामनाओं में विषयों के उनके संग्रह में और उनके भोग में ये और मिल जाए खा लो ये और मिल जाए पहन लो ये और मिल जाए ये कर लो ये और मिल जाए बस इसी में मत पड़े रहो निकल करके अपने हृदय में आओ और अपने हृदय में बास करो और वहां हृदय में सदा परमात्मा का स्मरण वहाँ जितने भी सदगुण सात्विक गुण हैं उन सबका शुद्ध परमार्जित होकर के रहे और बस उसी भाव से भावित होकर के व्यक्ति जीवन जिए तो कहते हैं ऐसे लोग मुझे प्रिय है माने जो विषयी लोग भगवान को प्रिय नहीं है देहाभिमानी प्रिय नहीं है बाचाल लोग प्रिय नहीं है भगवान को जो तर्क पुतर्क करने वाले प्रिय नहीं है भगवान को जो प्रिय है वो हृदय में रह करके शांत आनंद में रहने वाले और लोग कल्याण की कामना रखने वाले सबके साथ में इस प्रेम को भार भाव रखते हुए शांत में जो जीवन जीते वो भगवान को प्रिय है ये है अयोध्यापुरी की प्रियता की बात है यथ प्रिय मोही यहाँ के बासी और मम धामता प्रिय अविनाशी अब देखो यही अर्थ लग जाएगा ये अयोध्या जो है यहाँ के पास करने वाले और ये अयोध्या नगरी जो वो हो जो यहाँ बात करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं मम धामता तो भगवान का अपना धाम क्या है वैकुंठ धाम है इसके माने फिर वो तो वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं तो देखो यद्यपि भगवान का नित्य धाम वैकुंठ धाम है लेकिन भगवान कहते हैं अयोध्या मुझे उससे ज्यादा प्रिय है और यहाँ कहते हैं अयोध्या की क्या महिमा है कि इस अयोध्या के रहने वाले जो अयोध्या ये यहाँ के बात करने वाले व्यक्तियों को सबको वैकुंठ पहुंचा देती है मैंने कालांतर में ये सब जब इनका शरीर इत्यादि छूटेगा तीनों देहों से मुक्त होंगे तो ये सब उसी परमात्मा में ब्रह्म में परमात्मा के सामने वही पहुंच जाएंगे परमात्मा में हो जाएंगे सबके सब वहाँ पहुँचने का ये मैंने परमात्मा तक पहुँचने के लिए जैसे रॉकेट छोड़े जाते हैं अब रॉकेट छोड़े जाने के अब आज भी कोई रॉकेट छोड़ने की कहीं समाचार सूचना है आज उसकी तैयारी हो रही है कहीं तब कहाँ रॉकेट छोड़ा जाएगा तो कोई ऐसे थोड़े कि कानपुर में छोड़ने लगे लाता भी छोड़ने लगे नेता होगा शहर पर छूटे वहाँ पर जी छोड़ना है उसके लिए स्थान अलग से बनाया जाता है उसकी तैयारी होती है जहाँ रात्रि चलता है अपना काम पहुँचता है उसमें विशेष तैयारी होती है इसलिए परमात्मा के अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए रॉकेट डालने का स्थान कहा एक हृदय कौन सा हृदय सत्य बलत रहा शांत निर्विकार मिले वहां पहुंचे वहीं से यदि जन्म लगाएंगे वहीं हृदय से बास पर परमात्मा में पहुंच जाएंगे और जो लोग विषयों में बात करेंगे हम्म, वे लोग बदलाते रहे उनका राकेट वहीं जैसे ऊपर उड़ेगा ऐसे पांच छह दस फुट ऊपर जाकर के चल जाएगा नीचे गिर जाएगा ये सब अध्यात्म विद्या के सत्यानाश है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बस हृदय में ही मसैनी लगी है वही तो परमात्मा को प्राप्त करने की कहते तो अधिक मोहि यहाँ के बासी मम धाम का बुरी सुख राशि ये सुख की राशि है क्या कह देते मम धाम सुख सुख राशि और चाहे अध्यापुरी भी सुख राशि दोनों ही आनंद के स्थान है हृदय ही आनंद का स्थान है जहाँ पर ही परमात्मा मिलता है उसके दर्शन होते हैं और वो जहाँ पर के अचलील होकर के जहाँ परमात्मा भाव स्थित होता है वो तो परमात्मा आनंद में रही है आनंद सिंधु है वहां तो पहुंच गया तो आनंद ही आनंद है अब कहते हर से सब तब सुन प्रभु पानी भगवान ने जब अयोध्या की महिमा ये सब सुनाई तो सब बालक जितने जो वहां सब बड़े प्रसन्न हो गए तो भगवान को अयोध्या की अयोध्या को दिखा रहे हैं खुश और धन्य अवध जो राम बखानी और वो अयोध्या को भी धन्य कहते हैं तो देखो वो अयोध्या धन्य है जिसका विवरण भगवान कर तो भगवान जिसकी प्रशंसा करें वो धन्य ऐसे करके भगवान जो है भरत जी की बड़ी प्रशंसा करते रहते हैं तो भरत अपने आप को धन्य मानते हैं तो देखो भगवान प्रशंसा करते हैं तो इस जीवन की धन्यता ऐसे ही अयोध्या की प्रशंसा हुई तो अयोध्या धन्य सभी की प्रशंसा की तो सभी धन्य होगी भगवान की प्रशंसा कोई साधारण बात थोड़ी ऐसी थोड़ी दो दूरी की प्रशंसा करनी है ये साधारण व्यक्ति की कोई प्रशंसा है ये भगवान के द्वारा प्रशंसा कर रहे हैं उनकी सत्य बात है और बड़ी घटना की बात है तब भगवान इस प्रकार की प्रशंसा करवाए तो बस ये अयोध्या की चर्चा हो रही अब कहते आवत देख लोग सब कृपा जो भगवान इतनी देर में वहां से इस गंगा नगरी से वहां से श्रृंगवीरपुर से इसलिए बाईजान चलता हुआ अयोध्या के पास तक आ गया और वहाँ से ऊपर से भगवान ने अयोध्या परी में करके देखा तो सब अयोध्या वासी अब तक नगर के बाहर आ गए थे मिलने के लिए तो उन्होंने क्या आवत तो देख लोग तो सब कृपा सिंधु भगवान कृपाधान भगवान ने क्या किया नगर निकट पर उतरे उतरे घूमते बाद नगर के बाहर ही घूमने वो भाईजान उतार दिया तो कहा जब के तो बाहर ही जहाँ पर भी कोई मनुष्य इत्यादि ग्रह नहीं है वहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर तुमने जो उतर तो वो उतर गया भूल में आ गया उस पर विमान उतर गया और वही निकली ये अयोध्यावासी सब नगर से बाहर निकल आए थे मैदान स्थान भगवान का उनका उनका मिलन का होते बात तो कहते हैं जैसे भगवान विमान से उतरे तो भगवान ने उस विमान को छुट्टी कर दी आज तुम्हारा काम खत्म हम आ गए उतर कर गए प्रभु पुस्तकें नहीं तो उससे पुस्तक विमान से उतर करके भगवान बोले कि तुम कुबेर कहीं जाओ बस अब जाओ तुम कुबेर कहा जाओ और प्रेस जवान सजो से हर्ष दे रहे हो भगवान के कहने से वो पुस्तक विमान की प्रेरणा से चल गया लेकिन पुस्तक विमान को भी हर्ष भी है और विशाद भी ये दोनों लेकर के वो चल गया अब ये विमान लिए इस पर विमान मूल रूप में कुबेर का ही था रावण सब सत्ता जब ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो ये कुबेर तो रावण का भाई ही था लेकिन उसके पास जाकर के रावण ने पुस्तक विमान से ये नहीं कि उसको उसने कुबेर जो है वो पुस्तक विमान रावण को भेंट नहीं दिया हो समय भेंट नहीं दिया होता तो रावण मान सकता था कि चलो हमको दे दिया ये हमारा हो गया कैसे नहीं लाओ इतने बात प्राप्त वस्तु प्राप्त होना एक बात है और चापा डाल करके छीन लाना दूसरे कामर गया वहाँ पर और उसकी प्रदेश की गर्दन दबाई और कहा कि देखो छोड़ो संकट का भगवान काम ले जाए और बस कुछ भगवान लेकर के भाग ऐसे क्योंकि भगवान ने रावण को मारा तो इससे मैंने समस्त देवताओं की प्रबंध कृपा की मुनियों को उनको सबको विजय आओ जब बंदी खाने में थे तो वो सब छूट गए सब मुक्त हो गए सब प्रसन्न हो गए सब भगवान की वंदना करने लगे अब तो यही बात थी जब ये पुस्तक विमान कुबेर का है तो कुबेर के पास जाना चाहिए इसी समय भगवान ने सोच लिया था तो विभीषण ने भी जब राज देते ये सब राज्य कितना है क्योंकि रावण को आपने मारा है इसके सारी संपत्ति सारा राज्य उसका जो ये आपका है ऐसे करके भगवान को अपने तो भगवान ने भी कह दिया कि हाँ ये सब हमारे ही है तो, तो हमारे सभा हो हमने तुमको दिया अब तुम उसके राजा बना दिए गए तुम तो तुम उसका उपयोग करो तुम शासन करो तो उसने विभीषण ने पुस्तक विमान भगवान को अर्पित कर दिया ला दे दिया तो भगवान ने पुस्तक विमान स्वीकार कर दिया एक ध्वज वो हो रावण के पद के बाद जो भगवान को प्राप्त हुई वो पुस्तक विमान और वो भी कितनी देर के लिए क्योंकि उनको आवश्यकता थी वो समय जनता से अयोध्या बताने के लिए तब तक उतनी ही यात्रा करने मात्र के लिए वन फ्लाइट के लिए उन्होंने अपना पुस्तक विमान स्वीकार कर लिया उनसे लेकर के जैसे ही अयोध्या में आए तो उसको एक मिनट में नहीं रखा सब लोगों से मिलना भेजना बाद में बाद तुम जाओ बस कुबेर के पास पहुंचे कुबेर कहेगा देखो गए हजारों को मारा तो हमारा विमान जो मूर्ति भगवान दे गए वो हमको वापस नहीं किया सबके साथ बड़ा न्याय किया सबके साथ बड़ा उपकार किया हमारा पुस्तक विमान गए तो के लिए जाए उसको पहुंचा तो पुस्तक विमान तुरंत भगवान से वापस कर लिया तो वो चला गया कुबेर के पास कुबेर तो भी प्रसन्न हो गया कहा कि भगवान ने रावण को मारा तो अच्छा किया हमारा विमान पूरा वापस मिल गया उसका तो प्रसन्नता हो गया तो ये पुष्पक ज्ञान जब अब इससे मालूम पड़ता है पुष्पक ज्ञान चलता प्रेरित शब्द भी बोलते हैं और दूसरी बात ये जो पुष्पक विमान अगर मारे चढ़ पुष्पक विमान हो भौतिक विमान हो तो, ये है कि भाई अब साइकिल से कहो कि साइकिल जो यहाँ नाम मुझे जाना है बैठना तो चाहता हूँ तो साइकिल आ जाए तो ऐसे कहने से थोड़ी आ जाएगी जब थोड़ी उसको तो बस पड़ेगा करना पड़ेगा पकड़ना पड़ेगा तो चलो किसी प्रकार का पुस्तक समाज को किसी अंदर से चलना चाहिए अगर भौतिक वस्तु कोई तो चाहिए कि उसके साथ साथ कोई ड्राइवर उसका चलाने वाला पायलट है उसमें बैठा हुआ है वो चेतन है तो उसको आदेश भगवान देते हैं तो ये उसको चलाता है ऐसा हो सकता है <clears throat> तो भौतिक रूप से अगर देखो तो ये मान सकते हैं कि पुस्तक एक जैसे आजकल के बाईजान होते हैं ऐसे बाईजान है और उसमें चलाने वाला एक पायलट है उसका नाम पुस्तक समझ लो चाहे उसका यान का नाम पुस्तक समझ लो लिए जो है ये ले जाने वाले चलाने वाले जो है तो भगवान ने जब उससे पहले से कहा जब तुम इसको ले जाओ तो लेकर के चल देता है तो उसको हर संसार हो सकता है उससे जवाब देखो रावण अब तक जो हमसे जबरस्ती करके बात करता काम देता था अब भगवान आए तो देखो कितना मधे स्वभाव भगवान का था जैसे प्रेम पूर्वक हमसे व्यवहार करते थे जैसे आदर के साथ हमारा हमारा इनका संबंध था अब एक ड्राइवर हो तो देखो ड्राइवर के जो मालिक होगा तो उससे ड्राइवर के हर्ष विशाख उसके साथ में होता रहता है अगर मालिक जो है क्रूर स्वभाव का हुआ तो ड्राइवर को पैसा चाहे जितना तो मिले लेकिन ड्राइवर पीड़ित रहेगा उसमें उसका मन खिन्न रहेगा बराबर के पहले से काट रहे हैं गाड़ी दे रहे हैं चिल्ला रहे हैं अल्लाह बुल्ला मचा रहे हैं बेकार का तो उसको अच्छा नहीं लगेगा तो उसको लेकिन एक मालिक मिल जाए जिसको कि मालिक जो वो हो सज्जन हो साधे स्वभाव का हो ड्राइवर से भी बोले तो जी लगा करके बोले उनको आदर के साथ उसको बोले तो वो ड्राइवर कहेगा उनको ये मालिक कितना अच्छा है ऐसा चाहे एक बटे लेकिन प्रेम पूर्वक बोलता तो बहुत अच्छा था तो है तो उसको अच्छा लगे तो उसका उसका प्रश्न था उसको तो ये <clears throat> ये जो था ये पुस्तक रावण के साथ रह करके तो बड़ा अच्छा बड़ा दुखी रहा करता था रावण उसको <clears throat> बड़ा का धमकाता रहता था लेकिन जब भगवान ने कृपा के लिए आया तो भगवान बड़े आदर पूर्वक उसको कृष्ण भगवान को लाए और जब उसके जाने को कहा तब भी बड़े आदर पूर्वक उसको बिता दिया उसको तो इस कितनी देर तक भगवान के पास जब तक रहा तब ये पुष्प भगवान प्रसन्न होता है आपके तो मालिक को कैसा तो होना चाहिए अब वो कंपेयर करता है रावण से कुबेर से और भगवान राम से तो तीन प्रकार के मालिक उसे दिखाई देते हैं तो रावण तो बड़े ही निकट मालिक उससे छुटकारा मिल गया तो उसने जगहदार भारतीय भगवान की चलो मरा ऐसा